यज्ञ स्वरूप समुद्र रूप समुद्रतावर्ती वर्णवानल नामक अग्नि यज्ञ में आहुति रूप प्रदान भविष्य भुक्ता अग्निमुख प्रसन्नता अनिरूप महान तेजस्वी उत्तम तेजस्वी विजय जय ज्योतिर्मंडल के आश्रय सिद्ध रूप शत्रुओं से मेल रखने की नीति रूप अवसर लेकर शत्रु के साथ युद्ध करने के नीति रूप शिखाधारी दंडधारी जटाधारी जटा धारण करने वाले जटाधारी लप लपटन वाले मूर्तिमान जलरूप बलहारी ब्रह्म स्वरूप बांस का डंडा धारण करने वाले पापियों को बेताल की भांति भय देने वाले कालिंग काल को भी दंड देने वाले तारा रूप स्वरूप अर्थात अर्थात अविनाशी शरीर वाले अबुद्ध रूप ब्रह्म रूप सुगंध वहन करने वाले वायु रूप सबसे श्रेष्ठ प्रजा प्रजाजनों के के रक्षक विष्णु रूप भुजा को भांति भुजा की भांति सबके सहायक यज्ञ में विशिष्ट भाग विशिष्ट भाग ग्रहण करने वाले सब और मुख वाले संसार बंधन से मुक्त करने वाले देव समुदाय रूप स्वर्ण में कवच धारण करने वाले जगत स्वरूप रजगुण रहित भस्म लगाने वाले बड़े आचार वाले विख्यात यश वाले आदि रहित सब प्राणियों के आदि कारण सबके आदि पुरुष सबके जन्मदाता सबके ज्ञानदाता सर्व स्वरूप महान आवास से युक्त तुच्छ वस्तु धतुरों की वाला धारण करने वाले मस्तक पर उठती हुई गंगा की लहरों को जालने वाले वितेन वेद और और तीन लोग जिनके पद अर्थात स्थान है वे भगवान शिव त्रिनेत्रधारी अपव्यक्त सब बंधनों से मुक्त करने वाले ज्ञान से प्रसन्न होने वाले असुंदर तथा वस्त्र धारण करने वाले समस्त साधनों से सेवित अपने मस्तकों से गंगा जी का स्तोत्र बहाने वाले विभाग रहित सदा एक रस यज्ञ विभाग के ज्ञाता सब में सदा रहने वाले सर्वत्र विचरने वाले दुर्वासा मुनि रूप वैरव यमराज राज स्वरूप शीतल चंद्र स्वरूप यज्ञ स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाले तथा विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ लाल लाल आंखों वाले बड़े-बड़े नेत्र वाले विजय स्वरूप विशिष्ट विद्वान संग्रह विग्रह कर्म रखने वाले नागेंद्र हार से विभूषित सब में प्रमुख प्रमुख विमुक्त दे विमुक्त देव शरीर में रहने वाले बाण स्वरूप कर्दम रूप सर्वाचार स्वरूप प्रस दर्शन तारूप खेचर स्वरूप बल और भ्राम करने वाले आकाश व्रति रूप निपात सर्प रूप खन रूप रोध रूप देवता में सरू रूप रत्न स्वरूप किरणों से युक्त उत्तम तेज वाले वायु के समान वेग वाले महान वेग वाले मन के समान वेग वाले रात्रिचर सर्वासा लक्ष्मी के निवासी स्थान व्यापक लोकहिस लोकेश जिनकी कलाएं वे हर मुनियात्मगति रूप सहस्त्रमुख विभु स्वरूप यक्षों से युक्त कुबेर रूप बाल पक्षी के साम समान वेग वाले प्रकाश रूप प्रजा के स्वामी मत वाले कामदेव के तुल्य रूप वाले अर्थ और अनर्थों की प्राप्ति में कारण महान सिद्ध योगेश्वर रूप भक्तों के कलेशों का अपहरण करने वाले सिद्ध स्वाद साधक भिक्षु भिक्षु रूप छह प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी कोमल चंडी वाले विशाल सेना वाली कार्तिक के रूप विशाख स्कंद जिनका भाग लाठी में बांधा जाता वे गो के पालक हाथ में ब्रज धारण करने वाले रोपने वाले विशेष रूप से स्थित स्तंभ स्तंभ करने वाले नक्षत्र रूप शत्रु भी शत्रु को विजय सहारा देने वाले काल वसंत रूप महुआ के समान नेत्र वाले बृहस्पति रूप अंत ही जिनकी सेना है ऐसे निष्ठानवान आश्रय सूचक ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी उत्तम रत्नों के ज्ञाता ईशान ईशान ईश्वर काल निशाचरी अका एकमात्र सबके धारण करने वाले अमित प्राण मातीत प्राणातीत नदो और नदियों को उत्पन्न करने वाले अभिव्यक्त नंदीश्वर सुनंदी नंदन नंदवर्धन नागहारी बिहारी काल ब्रह्मताओं में सर्वश्रेष्ठ चतुर्मुख महालिंग चतुर्लिंग लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष कालाध्यक्ष यज्ञ को धारण करने वाले उमापति उमाकांत गंगाधर वर सर्वथ सब प्राणियों का अर्थ सिद्ध करने वाले नित्य सब व्रतों का पालन तथा शुचि पवित्र हे नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं और महेश्वर को भी महेश्वर को भी जिनका यान नहीं होता उन्हें आप परातर पर परमात्मा की परमात्मा की स्तुति कैसे की जा सकती है मार्कंड जी कहते हैं इस स्तोत्र को सुनकर श्रीमान रूपेश्वर शिव प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले देवताओं तुम लोग वर मांगो देवता बोले महेश्वर आप नित्यों के निवास और हमारी रक्षा के लिए उचित उधत उद्योग करने वाले हैं जो पाप प्रायण उधम मनुष्य भी यहाँ के पांच लिंगों का अर्चन करे उसे वह उत्तम गति प्राप्त होती है जो बड़े-बड़े यज्ञ द्वारा भी दुर्लभ है पूर्व काल में उसे तीर्थ में इंद्रदेव दानवंदित देवादिदेव उमापति का सहस्त्र नाम द्वारा स्तवन किया गया था इससे भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए इसी प्रकार कुबेर ने लक्षेश्वर देव का स्तवन किया था युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो मोक्षदायक नाम वाली देवी है उन्हीं को पार्वती जानो मोक्षेश्वर मोक्षेश्वर सिद्धलिंग है वहां देवता और असुर भी मस्तक नवाते हैं तदंतर परम उत्तम वैष्णव तीर्थ देखा जाए वह तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाली है देवादिदेव भगवान जनार्दन पवित्र एकादशी व्रत के करके दीपावली को जगदाता उसी के उस दुख मार्ग लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती वहां पर श्राद्ध करने से पितरों को अंत काल तक तृप्ति बनी रहती है इसी तीर्थ में किए हुए पुण्य से ध्रुव नक्षत्रों के तेज से परम उज्जवल होकर ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं नर्मदा का सर्व तीर्थमयी महादेव जी की भी सर्वदेवमयी है महादेव जी सर्वदेवमय होने के पश्चात बुद्धि सर्वधर्मयी तथा सर्वदेवमयी है तपस्या क्षमा है तो सत्यम में है पांचों इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचार्य है और यह ब्रह्मचार्य ही तपस्या का मूल है क्षमा सत्य जब स्वधाय और तप इन्हीं का नाम समय है संयम है राजन जो मनुष्य प्रातः काल उठकर द्वीपेश्वर कपिलेश्वर और नरकेश्वर इन सब का नाम लेता है वह इस सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है नर्मदा जी की तथा भगवान विष्णु की स्तुति मार्कंडे जी कहते हैं पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी उस समय देवताओं और ब्रह्मविषु ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तवन किया देवी आपने चराचर प्राणियों सहित मृत लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया है जल के रूप में प्राप्ति हुई है नर्मदा जी महादेव जी की उत्तम कला है आप ही उमा कत्यायनी गंगा यमुना सरस्वती चामुंडा चर्चिका देवी तथा रेवा है देवी आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है आप पुण्यमय प्रभा स्वरूप है आप मेकल नामक पर्वत से प्रकट हुई है होने के कारण आपको इसकी कन्या कहते हैं सबने आपका स्तवन किया है आपके तट यज्ञ पुरुष से सुशोभित है आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि है और स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली है लक्ष्मी स्वाहा स्वधा और यशस्वनी पूर्वता भी आप ही है सुव्रते आपने जन रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है आपके तो संगम और श्रद्धनुंग को तथा असुर भी नमस्कार करते हैं युधिष्ठिर ने पूछा श्रेष्ठ जिस मनुष्य के कर्म बंधन नहीं टूटे उसे किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है मार्कंडी जी ने बोला राजन मार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने भगवान महात्मा ब्रह्म जी को परम पद प्राप्ति उपाय बताया था वह उपाय है भगवान विष्णु का स्तवन जो इस प्रकार है मैं कमल के समान नेत्र वाले पापहारी हरि श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ जो संपूर्ण लोकों के रक्षक शास्त्रों नेत्रों से विभूषित अविनाशी एवं परम पद स्वरूप है तथा भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न है जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है जो इंद्र के स्वामी सत्य स्वरूप तथा विकार रहित है